मन भाकम देहा पंडित सहित स्नेहा विधि कब वीर कलवा कृपाणा पर परसि बुद्धि शक्ति प्रचण्डा पर विज्ञान कथन को दण्डा अचल अमल मन तोण समाना दस कर चिंतामयी युद्ध क्षेत्र जिसमें की एक को रावण अपनी सेना लेकर के आ गया दूसरी ओर भगवान राम और कानव सेना एकत्र है जब विभूषण ने देखा कि भगवान राम पैदल है इनके पास रथ नहीं है लेकिन रावण जो है रथ के ऊपर सवार होकर के आया है अस्त तो शस्त्र मान दिए हुए है और प्रेम के कारण विभीषण को कुछ समय आया भगवान तो से कहने के लिए ये तो देखो इतना शक्तिशाली रावण दिखाई देता है रथ भी इतना उत्तम से पास है इससे प्रसिद्ध ये प्राप्त होगी तो पत्र भगवान जो है वो कहते हैं कि जिससे दिए होती है तो दूसरा ही रथ है और फिर उस रथ का वर्णन करते हैं यहाँ भगवान बताते हैं कि देखिए जो शत्रु हमारा है वो संसार और संसार हमारी मानसिक रचना है संसार कोई भौतिक जगत जो है वो संसार नहीं है हमने जरा इत्यादि से काम क्रोध लोग अज्ञान अविद्या ये सब के स्वार्थ आदि अहंकार आदि जो पाल रखते हैं ये सब संसार और ये जन जन्मांतरों से चला रहा है और वो पीड़ा भी दे रहा है वो हमारे साथ रहा सब सवार रहा इसी के कारण हमें शरीर धारण करना पड़ा और जीवन में नाना प्रकार के दुख भी सहन करने पड़े अब हमारे सामने जो शत्रु है ये संसार ही शत्रु है इससे छुटकारा पाने तो फिर जीवन में कोई शत्रु नहीं है फिर संसार में कोई विरोधी नहीं है कोई शत्रु नहीं है कोई समस्या नहीं है कोई दुख क्लेश आदमी नहीं है बाकी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति एकदम से संसार को एकदम से निमृत करके कोई दिखा दे देखो कैसा सुंदर जीवन है कैसा आनंदमय जीवन है अब बस यही हो सकता है जो ऋषि मुनि संत महात्मा पहले हो चुके हैं और इस संसार शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं और उनका जो अनुभव है उसी पर विश्वास करें और फिर उस प्रकार के जीवन को प्राप्त करने का प्रयास करें तो मुख्य समस्या जो हमारी जो है वो संसार है जो हमारी मानसिक रचना है तो जैसे संसार मानसिक रचना है ऐसे ही इसके विध्वंस करने के लिए भी मानसिक शक्ति ही चाहिए तो जिस रथ का वर्णन करते हैं ये मानसिक रथ है हमारे आंतरिक जगत का रथ है उसी में जितने गुण है वे सबके सब गुण जो रथ के विभिन्न अंग है पंचदशी में देखते हैं विद्यात्मा स्वामी ने कहा कि संसार दो प्रकार का है संसार मानसिक रचना है लेकिन दो प्रकार का है एक अशास्त्रीय और दूसरा शास्त्रीय ये नाम उन्होंने रखे शास्त्रीय के माने है शास्त्र विरुद्ध मन माने ढंग से व्यक्ति ने अपना संसार रखा और प्रबल दुख दे रहा है तो जो संसार में अज्ञानी लोग पड़े हुए हैं वो अशास्त्रीय संसार है यह शास्त्र विरुद्ध शास्त्र उसको स्वीकृत नहीं देता उस प्रकार का वो संसार है और कहते हैं इसका विनाश करने के लिए हमें शास्त्रीय संसार चाहिए आपस हमें शास्त्र का अध्ययन करें शास्त्र जो मार्गदर्शन देते हैं और जिन गुणों को अपने अंदर विकसित करने के लिए कहते हैं उनको विकसित करें बार बार शास्त्र का अध्ययन करें बार बार जो गुण हमने बताए गए वो अपने हाथ में लाए जैसे इसमें रख के विभिन्न अंग करके जिन गुणों का वर्णन किया गया ये सब शास्त्र ही है मंदिर रामचरित मानस शास्त्र है उसमें जिस रथ के नाम से जिसके अंग बताए गए सौरज भेद चाचा सत्यशील रजा था ये सब जो बताए गए रथ के विभिन्न अंग ये सब मानसिक है और शास्त्र है क्योंकि शास्त्र में ही इनका हमें ज्ञान होता है और हमारे अंदर जब हम देखेंगे अपने मन में देखेंगे तो वही मिलेंगे सबल जीवन कोई ऐसा नहीं कि हमारे साथ जैसे और बहुत से मनुष्य और पक्षी इत्यादि रहते हैं ऐसे सौरज धीरज और सत्यशील भी हमारे साथ पृथ्वी के ऊपर कहीं घूमते हो ऐसे नहीं है ये हमारे अंदर की ही शास्त्र योजना है हमारे अंदर मानसिक गुण बौद्धिक गुण है हमारे अंदर यदि हम इनको विकसित नहीं करते तो ज्ञान कहा जाता मौखिक ज्ञान कुछ भी हो तो जीवन में कल्याण नहीं कर सकता इसलिए बहुत बार शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी और आध्यात्मिक नाम धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भी इस संसार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते उनके अंदर ये जो शास्त्रीय जो संसार उत्पन्न होना चाहिए मतलब जिसमें के दैवी हो जिसमें उत्पन्न होने चाहिए जब ये आखिरी संपत्ति वाले संसार के निशाक्षरों का बच कर सके उनको मार सके जब तक ये अपने अंदर नहीं होता तब तक जीवन में जो जीवन का आध्यात्मिक रूप है वो भीतर से निखरता है प्रगट होकर के आता है और जब तक वो प्रगट होता नहीं तब तक उसका आनंद अनुभव में आता नहीं सीधी सी बात उतनी है ये समझना कोई चीज नहीं है चलिए तो बहुत कठिन बातें हैं कठिन नहीं है भीतर अपने समझ सकते हैं तो ऐसी साधारण भाषा में समझ लें कि अपने अंदर ऐसे तो दुर्गुण है और गुण है सदगुण है दुर्गुण है दुर्गुण शासक है और उन्हीं का समुदाय संसार है सदगुण है वे सब अपने अंदर देवता है और उन्हीं की शक्ति से ये संसार कर्मा हो जाते हैं लंका में राम राम युद्ध हो रहा है एक तो तरफ ये सब जितने भी हनुमान जी इत्यादि ये जितने भी सब हैं मानव और वीर ये सब देवता लोग हैं देवताओं ने अवतार लेकर के देख रहे हैं दूसरी तरफ जितने वो रावण की तरफ मोह अहंकार आदि है ये सब दुर्गुण है जिन्होंने नशाकर रूप धारण कर रखा है इनका युद्ध धो रहा है बस इतने ही अध्यात्म विद्या का सार सर्वस्व है विश्वास करने को कितनी करता रहे लेकिन संक्षेप में बात इतनी है और युद्ध हमारे भीतर चले कुछ लोग कैसे होते हैं जो पारसिक जीवन जीते हैं जिनके अंदर दैवी है नहीं सड़क भेज इत्यादि कुछ नहीं है और संसार शत्रु जो है अपना भयंकर रूप धारण किए विषय पर सवार है वो हरा काम करते रहता है गर्दन दबाए हुए है बाल पकड़े हुए चिंता रहता है और नाना प्रकार के दुख भय चिंताएं आदि सहन करने पड़ते हैं बड़बड़ाते हुए शिकायतें करते हुए अपने दुखों का रोना रोते हुए दुनिया के दुखों का रोना रोते हुए लोग बाग सभी जीते हैं जीवन उनका क्या कहना वो कोई जीवन जीवन नहीं है वो तो पराजित लोगों का जो कि जीवन संग्राम में आ रहे हैं उन लोगों की कहाना है बिगड़ाना है जैसे युद्ध में जो कोई घायल हो जाता है युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है तो क्या करता है चढ़ाता है चिल्लाता है सहायता करो हाथ बचाओ बस यही चिल्लाता है यही प्रकार सारा संसार संसार तत्व से पराजित होकर के करा रहा है दिल दिला रहा है अपनी भी शिकायत दूसरे की भी शिकायत जो जीवन जरिए पराजित जीवन विजय जीवन यही है कि संसार तत्व के ऊपर विजय प्राप्त करें और इसके लिए अपने अंदर <clears throat> जो शक्ति जो है जागृत करें दैनिक संपत्ति जागृत करें तो अभी तक देखे कल दो दिन में देखा तो रक्त क्या है रक्त के विभिन्न अंग क्या है पहले ये क्या है उसके भजा पटाखा क्या है घोड़े क्या है लगाम क्या है शास्त्री क्या है अब उसके बाद कर देख रहे थे भगवान ने विभिषण के सामने वर्णन शुरू किया अस्त्र शस्त्र क्या है और ये भी सब मानसिक है अस्त्र शस्त्र कोई हाथ में लिए हुए ये सरकार नहीं है ये सब मानसिक है जैसे बता दिया कि वैराग्य जो है कर्म है संतोष जो है कृपाण है कल जो कहे थे इसी प्रकार से कहते हैं दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा दान जो फरसे की तरह से फरसा इसका अर्थ है जैसे परशुराम के पास फरसा है उसे युद्ध करते हुए भी जिस शत्रुओं को दिया उन्होंने तो वो फरसा जो है वो क्या है दान सोचना पड़ेगा कि दान को फरसा कहा है तो इसमें कोई रहस्य होगा क्या विचार करके कहा तो उन्होंने इतना कह दिया कि विचारो ये दान खर्चे की तरह से है अब ये हमारा काम है कि हम उसे सोचे कि दान खर्चे का काम क्या करता है दान किसे मारता है क्या काटता है दान कैसे काट सकता है तो संक्षेप में देखें वैसे तो कोई इंटरप्रिटेशन किसी प्रकार से करे अपनी अपनी बुद्धि लगावे तो करेगा लेकिन एक प्रकार से देखें तो अनेक जन्मों से हम अपना स्वास्थ्य में जीवन जीते आ रहे हैं और स्वास्थ्य का एक प्रकार से उसी से पाप कमाते हुए नाना प्रकार के अच्छे कर्म करते हुए जीवन जीते चले आ रहे हैं अब उनके कारण जो इस प्रकार से निगेटिव टेंडेंसी उत्पन्न हो गई उनको नष्ट करने के लिए सबसे क्या हो सकता है और वो हो दान हो जब जो कुछ हमारे पास है वो अब हम देने को तैयार हो तब स्वास्थ्य रूपी शत्रु नष्ट हो जिसके पास हमें और क्या दे दे लाल ये दे दो लाल ये दे दो सात सत्संग लेते रहो और सामने मुझे दर्शनी दो चुरा दो ये सब क्या है ये जो प्रवृत्ति है ये निशासन की प्रवृत्ति है अब उस निशासन की प्रवृत्ति को इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है अब उसका उल्टा चलो उसको जो कुछ अपने पास उसे देना शुरू करो पैसे दो धन दो संपत्ति दो खाना दो वस्त्र दो भूम दो जो कुछ अपने पास हो उसमें जो स्वयं परिश्रम करके अर्जित किया वो समझते हो कि मेरा है दो और मेरे तन की भावना उसमें से हटा ये मेरा नहीं ये समाज का है जिन लोगों को आवश्यकता है उनका है तो जहाँ इस प्रकार के देना प्रारंभ किया भौतिक वस्तुओं को बाहरी वस्तुओं को तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके साफ करने लगे एक प्रकार से मानसिक शांति मिलती जो बोझ लगा होता है व्यक्ति के ऊपर स्वास्थ्य आदि के कारण से द्रवास तो के कारण से वो धीरे धीरे घटने लगता है घटने लगता है हाँ। एक हम्म, ये भी मान्यता है बहुत से संत महात्मा पहले से कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं वो ये है कि हमारे पापों के ही परिणाम स्वरूप दुख तो होते ही हैं रोग भी होते हैं रोग प्रदुख देते हैं हमारे पापों से ही रोग उत्पन्न हुए या समस्याएं उत्पन्न हुई और उन्हीं से दुख भी उत्पन्न होता है दुख होता रहता है तो जब ये रोग डॉक्टर लोग ठीक न कर सके तरह तरह के डॉक्टर हैं सब तरह के उपचार करें रोग ठीक नहीं होते तो अब इस रोग को दूर करने के लिए क्या है पाप कचरे होना चाहिए पाप शिक्षा करने के लिए क्या उपाय है दान तो दान का प्रयोग करके देखा गया कि असाध्य रोगी भी दान के द्वारा अच्छे हो गए जहाँ उन्होंने कुछ देना उनके हाथ से दिलाया गया दिया कुछ तो उनके रोग दूर हुए अच्छे होने लगे जो औसत से दूर नहीं हुआ रोग वो दान से दूर हो गया तो अब अगर ये इस प्रकार की घटनाएं घटती हुई दिखाई दे परीक्षा करके देखें जीवन में और ऐसा मिले तो इसके माने ये है कि दान जो वो पापा का नाश करने वाला है खर्चे का काम करता है जो अज्ञान के कारण से हमने पाप पाप को हम निगेटिव टेंडेंसी कहते हैं तो इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर अर्जित हो गए तो उनका सबको विध्वंस करने के लिए दान बहुत आसान तरीका है मानो जिसको कि बहुत अधिक ज्ञान न हो भक्ति न हो और किसी प्रकार का कुछ बहुत बहुत अधिक उच्च कोट की साधना न हो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये दान नहीं है ये प्रारंभिक साधन है जिन लोगों ने जीवन में कभी हम उन लोगों को बीमारी से अच्छे होने की उनकी बात कहते हैं जिन लोगों ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया पूजा पाठ नहीं किया ईश्वरों की सत्ता में विश्वास नहीं किया किसी संत के महात्मा के कहने से उसके हाथ पर खा करके कुछ दान कराया गया और फिर उससे उसको शांति मिली विश्राम मिली तो फिर देखते हैं कि मैंने दान से एक ऐसा साधन हो गया कि जो बहुत ऊंची साधन न हो तो भी व्यक्ति उसके द्वारा अपना कल्याण कर सकता है अब ये कैसे होता है का वैसे तो ऊपर ऊपर से लगता है कि देखो इतनी परिश्रम से हमने कमा करके पैसा लाए या संपत्ति लाए और वो ऐसे मुफ्त में बांट दो कितनी बेकूफी वाला काम है हम्म। तो लेकिन जब उसके अंतर राष्ट्र को देखे समझे तब उसको पता लगे कि काम की क्या महिमा है जगह जगह रामचरित मानस में भी कहा गया तुलसीदास कहते हैं कि देखो अनेक प्रकार के धर्म हैं और उन सबको देखे तो सार में भी कह सकते हैं चार प्रकार के मुख्य धर्म है उनमें से एक दान भी है सतयुग में धर्म के चार अंग रहते हैं त्रेता में एक टांग टूट गई द्वापर में दूसरी टांग टूट गई कलयुग में आकर के तीसरी टांग टूट गई एक टांग रह गई और क्या रह दान कलयुग में कलयुग माने वैसे तो युग के हिसाब से कलयुग को यदि कोई व्यक्ति अज्ञान में पढ़ते पढ़ते अपने अधोगति में जाते जाते तमोगुणी स्वभाव का हो गया न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान न अध्यात्म सध्यात्म सब उससे वंचित हो गया तो ऐसा व्यक्ति मानो कलयुग में पहुंच गया अब वो उसका उद्धार कैसे हो तो प्रारंभ उसका यही कि दान से शुरू करो को लेकर काम घटेंगे तो फिर कुछ भक्ति भी आएगी कुछ ज्ञान भी आएगा कुछ आध्यात्मिक साधना के जो और उच्चंग है वो भी व्यक्ति में उसके अंदर प्रकट होने लगेंगे और उसको सुलभ दिखाई देने लगेंगे उनमें श्रद्धा बढ़ेगी व्यक्ति की विश्वास भी परमात्मा में आएगा इसलिए व्यक्ति को जो कर सकता है तो करे और उसको कर सकने में दान को मानना चाहिए दान तो प्रारंभिक बात है कर सकते हैं कभी कभी तो बात में शिकायत करते हमारे पास कुछ है नहीं हम तो दूसरे ऊपर आश्रय हम क्या दान करेंगे हम्म। तो ऐसा नहीं है ये ऐसा कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है ईश्वर का निराकर करना है उसने जब मनुष्य शरीर दिया तो उसने बहुत कुछ दे दिया मनुष्य शरीर ही बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत बड़ा धन है व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर प्राप्त अब वो मनुष्य शरीर से परिश्रम करता तो मनुष्य शरीर से तो धन आया उसी से तो भूमि और बस्ता आदि आए उसी से तो सबसे ज्यादा मूल्यवान तो जो कुछ भी व्यक्ति के पास है तो सबसे ज्यादा मूल्यवान तो उसका शरीर है उसकी बुद्धि है उसके मन है उसके उपकरण है सबसे ज्यादा मूल्यवान तो यही है हम्म? इनसे तो दूसरी भौतिक वस्तुओं से आ जाती है इधर जब ध्यान दें तो पता लगे हाँ मनुष्य शरीर तो हमें भी प्राप्त है दो आंख है कि नहीं है दो गाने हैं कि नहीं है आते नाकू है कि नहीं है मन बुद्धि है कि नहीं है तो ये तो है ही अब इससे ज्यादा दुनिया में मूल्यवान वस्तु क्या है हम्म? अगर मान लो आपके पास एक लाख रुपया हो हाँ, और कोई चौदह सौ आ जाए आपके पास लाख रुपया तो चाहे तो एक लाख रुपया वो दे दो चाहे अपनी आंख पड़वा लो तो क्या सोचेंगे हमारे आते रहने तो लाख रुपया ले जाओ क्यों बुद्धि क्या कहती है हम्म? लाख रुपए से आप ज्यादा कीमती तो जब इतनी कीमती वस्तुएं हमारे पास है कि हम तो उसके लिए लाखों रुपए फोड़गो कर सकते हैं तो फिर भी क्या कहते हमारे पास यही क्या है हम क्या क्या करें इसलिए दान के लिए तत्पर रहना चाहिए दानों में फिर अनेक प्रकार के दान हैं और उनमें जितना ही भौतिक और तात्कालिक लाभ करने वाला लाभ है थोड़ी देर के लिए व्यक्तियों को सहायता करने वाला है वो तो प्रारंभिक दान है और फिर जब व्यक्ति का दूसरे लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करे अधिक से अधिक कल्याण करे तो उसे बड़े से बड़ा दान होता जाता है सिंह मिशन का मोटो क्या है टू हम्म। तो give maximum happiness to to maximum people for मैं जीवन का ये क्या तो गिफ्ट गिफ्ट मैंने दान का काम क्या काम करता है अधिक से अधिक सुख अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक काल को प्राप्त इससे बड़ा और बड़ा काम क्या हो सकता है ये सर्वोपर दान तो इसके लिए कितने धन की जरूरत है अगर धन की जरूरत हो धन हो तो धन भी लगाओ धन नहीं है तो फिर और जो आपके पास साधन है ज्ञान है बुद्धि है शरीर है उसके द्वारा इस कार्य में जुटो करो लोग कल्याण हो अधिक से अधिक लोग जो दुख है उनका दूर हो उनको सुख प्राप्त हो इसमें लोगो ये दान के साथ में भी दान की महिमा तुलसीदास का सभी लोगों ने कही है और एक इसमें भी ये है कि दान देने से घटता नहीं दान देने से बढ़ता है जैसे सरस्वती के भंडार की सबको बात आती है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात जो खर्चे क्यों क्यों बढ़े हाँ, और बिन खर्चे घट जाए तो इसके माने के सरस्वती वाली वाली ज्ञान विद्या तो इस प्रकार की है देने से बढ़ती भी है जितनी आप देंगे उतनी बढ़ेगी भी नहीं देंगे मान लो ज्ञान कुछ आपने पढ़ लिया और काम किसी ने बताएंगे और अपने मन में रखेंगे तो वो आपके अंदर का रहेगा आपकी बुद्धि में रहेगा वो खत्म हो जाएगा नष्ट हो जाए इसलिए जो है ये साक्षात प्रवचन न तस्वीर उपनिषद का उद्घोषणा क्या है स्वयं सीखो ज्ञान को और दूसरे को प्रवचन दूसरे को प्रवचन करो दूसरे को बताओ बताने में संकोच मत करो हम्म, कैसे बढ़ेगा लेकिन दूसरी बात ऐसे कहते हैं कि दान लिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन किए पिए घटे न करता नहीं वैसे तो लगता है कि अगर हमारे पास एक लाख रुपया मैंने एक भी एक रुपया दान कर दिया तो एक लाख में से नीचे एक एक करके घटाओगे तो जरूर कुछ न कुछ एक लाख से नीचे कुछ संख्या कम रह जाएगी इसके माने हमारे पास घटता चला जा रहा है लेकिन ये घटता चला जा रहा है ये तो मंद बुद्धि के लोगों के लिए है वो देखेंगे कि हाँ संख्या में कैलकुलेशन में कागज के ऊपर घट रहा है लेकिन जहाँ अगर ये कहते हैं कि एक एक रुपया दो तो अपने को एक लाख मिलता है या एक लाख के मूल्य की वस्तु मिलती है तो कहाँ घटा दाम तो लाख गुना सौ गुना होकर के प्राप्त होता है वो ज्यादा नहीं कहीं ये प्रकृति का नियम है जिनकी की आंखों में ज्यादा दिखाई नहीं देता वो तो देखते चला गया एक रुपया लेकिन जिनको भी दिखाई देता है हृदय के नेत्र खुलेंगे तब दिखाई देगा कि जितना देते हैं उसका सौ गुना होकर के हजार गुना होकर के कैसे मिलता है कब मिलता है तो दिखाई देने लगता है प्रसन्नता के रूप में प्राप्त होगा संतोष के रूप में प्राप्त होगा ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा वो जब रुपये पैसे जैसे मूल्यहीन वस्तुओं को जो कुछ मूल्य की वस्तुओं को देंगे तब उससे हजारों गुनी मूल्य की वस्तुएं प्राप्त होंगी इसलिए दान के का स्वरूप क्या है और उसका विस्तार करने को दान कौन करे अब इतनी बात कहने की बात है कहने का तात्पर्य कि दान किस प्रकार से फर्श का काम करता है किस प्रकार से हमारे पापों इत्यादि का दारिद्र का पापों का दुखों का क्लेशों का कैसे ज्ञानन करता है इसको समझने का प्रयास करें तो ये दान हुआ दान फर्श बुद्धि शक्ति प्रचंडा जो बुद्धि है हमारी वो प्रचंड शक्ति है बुद्धि के मैंने समझने की कोशिश करें जैसे दान ही है अब दान कोई बुद्धि न हुए समझने की कोशिश न करे तो तो भाई यही दिखाई देगा दुर्बुद्धि में कि हानि हो रही दान लेने से लेकिन जब बुद्धि व्यक्ति में होगी बुद्धि लगावेगा तो उसकी उसकी महिमा समझ में आवेगी तो इसलिए जो बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति की तरह से है मैंने इस अध्यात्म के मार्ग में जो आगे व्यक्ति की साधना चलती है वो बुद्धि के बल पर चलती है आप देखेंगे उसमें जो ये है साधना जो होती है वो शरीर से नहीं होती कर्मेंद्रियों से प्राणादि शरीर से नहीं होती जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये साधना के मुख्य उपकरण यही है बाकी तो अगर वो करते हैं तो उसमें ज्ञानेन्द्रिया भी काम करे अगर शरीर भी काम करे तो ये उसके सहायक अंग जरूर है लेकिन मुख्य साधना जो है वो मन से होती है बुद्धि से होती है चित्र से होती है और इनका करता अहंकार जो है वो व्यक्ति उसी को करनी पड़ती है और ये तो साधन ये इनसे साधना होती है और साध्य